पनाह मांगता हूं मैं अल्लाह की शैतान मरदूत से शुरू नाम से अल्लाह के जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे रब ने हाथी वालों के साथ क्या बर्ताव किया है क्या उनकी चाल को बेकार नहीं कर दिया है और उन पर उड़ती हुई अबाबील को भेज दिया है जो उन्हें खरंजों की कंकरियां मार रही थीं। پھر انہوں نے ان سب کو چبائے ہوئے بھوسے کے مانند بنا دیا